परम पिता परमात्मा का स्मरण प्रणाम ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों आर्यभिविनय के दूसरे प्रकाश का आठवां मंत्र आर्यों के लिए आज स्वाध्याय हेतु तो प्रस्तुत है यजुर्वेद के इकतीसवें अध्याय का अठारवां मंत्र परमात्मा की स्तुति के रूप में दिया गया है मंत्र में कहा वेद अहम एतम पुरुषम आदित्य वर्णम तमस परस्तात मैं इस पुरुष को जानता हूं कौन सा वो पुरुष है जो सबसे बड़ा है महानतम आदित्य वर्ण है आदित्य का प्रकाशक है आदित्य के समान स्वप्रकाशक है जो अविद्यादि अंधकार से दूर है तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में उस परमात्मा को जान करके ही मृत्यु आदि दुख से छुटकारा मिलता है नान्य पंथा विद्यते अयनाय मुक्ति के लिए और कोई उपाय नहीं है परमात्मा को यहां पर पुरुष शब्द से कहा गया और महर्षि दयानंद इसका अर्थ खोल रहे हैं निरुक्त के अनुसार जो दिया पुरुष पूर्णत्वात चूंकि वो पूर्ण है इसलिए भी उसे पुरुष शब्द से कहा जाता है वो सब तरह से पूर्ण है उसे अपने लिए किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है किसी व्यक्ति की अपेक्षा नहीं है अपने आप में वो पूर्ण है उसे किसी वस्तु की किसी चीज की कमी नहीं है उसमें कोई दुख नहीं है जिसकी निवृत्ति के लिए वो कुछ अपेक्षा रखे उसके सुख में कोई कमी नहीं है कि उस सुख को और प्राप्त करने के लिए पूर्ण करने के लिए वो प्रयास करे तो वो परमात्मा पूर्ण होने से पुरुष है और दूसरी व्याख्या कि वो इस पुरी में इस पूरे कार्य जगत में विद्यमान है उसमें शयन करता है उसमें रहता है सब जगह व्यापक है इसलिए भी उसको पुरुष कहा जाता है उस पुरुष को मैं जानता हूं वेद अहम तम पुरुषम उस पुरुष को मैं जानता हूं जिसने परमात्मा को जान लिया है वो कोई व्यक्ति इस वाक्य को बोल रहा है ये उपदेश परमात्मा के द्वारा ही है मंत्र भी परमात्मा के द्वारा ऋषियों को दिया गया लेकिन परमात्मा इस मंत्र के माध्यम से उस व्यक्ति के मुख से बुलवा रहा है जो अन्य मनुष्यों को उपदेश दे रहा है कि मैं उस पुरुष को जानता हूं ये उस पुरुष से भिन्न परमात्मा से भिन्न कोई मनुष्य है कोई योगी है और वाक्य रचना तो है मैं जानता हूं लेकिन इसका और क्या तात्पर्य होता है मैं जानता हूं मात्र इतनी ही सूचना है यहां पर अथवा इससे अन्य भी बात यहां से निकलती है वेदों को समझने वेदों में किस वाक्य से क्या क्या अर्थ लिए जा सकते हैं उचित हैं उसकी एक शैली महर्षि ने यहां पर लिखी तो उन्होंने कहा कि उस पुरुष को मैं जानता हूं ये तो शाब्दिक अर्थ किया अब आगे क्या खोलते हैं अर्थात सब मनुष्यों को उचित है कि उस परमात्मा को अवश्य जाने यदि एक मनुष्य ये कहता है कि मैं परमात्मा को जानता हूं तो उसका मतलब है सब मनुष्य उस परमात्मा को जाने ये वाक्य जो योगी ईश्वर साक्षात्कार करता कह रहा है कि मैं उस परमात्मा को जानता हूं ऐसा सब मनुष्य बोल सके ऐसा सब मनुष्य बोले कहें ये तब बोलेंगे जब उस स्थिति में पहुंचेंगे अर्थात सब मनुष्यों का ये कर्तव्य बनता है कि वो ये बोल सकें मैं उस परमात्मा को जानता हूं इसका मतलब उसको जानने का वो प्रयत्न करे उसको जाने ये उपदेश भी इसके साथ साथ जुड़ा हुआ है परमात्मा का उपदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता यदि एक के लिए है इसका मतलब वो सबके लिए है सबके लिए पूरी तरह वैसे ही लागू होता है तो आर्य वो होता है आर्य ये कहने में समर्थ हो सके कि मैं उस परमात्मा को जानता हूं एक तो साक्षात्कार होता है समाधि में दूसरा उस साक्षात्कार के पूर्व भी शब्द प्रमाण से अनुमान प्रमाण से भी परमात्मा के ठीक स्वरूप को जाना जा सकता है तो आर्य को ये तो अवश्य करना ही चाहिए ये तो प्राथमिक बात है कि परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक जाने वो उसके लिए प्रयत्न करें उसके लिए शास्त्रों को पढ़े उसके लिए जानने वालों से शंका समाधान करे उनके सत्संग सुने प्रवचन सुने तो उस पुरुष को मैं जानता हूं इसको महर्षि ने खोल दिया अर्थात सब मनुष्यों को उचित है कि उस परमात्मा को अवश्य जाने और इसकी और व्याख्या कर दी दूसरे ढंग से उसको कभी ना भूलें एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं उसको जानता हूं यानी भूल नहीं रहा है उसको परमात्मा सदैव उपस्थित है जानने के बाद भी यदि हम कभी उसे विस्मृत करते हैं दिन में जागृत अवस्था में वो आर्य से अपेक्षा नहीं है आर्य से ये अपेक्षा है कि वो परमात्मा को दिन भर न भूले तो उसको कभी ना भूले और इसके साथ साथ अन्य किसी को ईश्वर न जाने ईश्वर को ठीक ठीक जान लिया लेकिन उस ईश्वर के समतुल्य ईश्वर से बड़ा या ईश्वर और किसी को न माने केवल परमात्मा को ही ईश्वर माने इस सृष्टि के रचयिता कर्मफल प्रदाता को ही ईश्वर माने और किसी को न माने ये बातें इसके साथ साथ महर्षि ने अर्थात करके जोड़ी हम इसी शैली से वेद में जो अन्य वाक्य आते हैं उनके इस तरह की चीजें जोड़ ही सकते हैं क्योंकि वो अंतर्भावित हैं ये हमारे लिए इसमें आदेश भी है वाक्य तो केवल इतना है वेद अहम एतम पुरुषम मैं इस पुरुष को जानता हूं ये वर्तमान काल का प्रयोग है मैं जानता हूं इसमें कोई विधि नहीं है कोई आदेश नहीं है लेकिन वेद का ये सामान्य वाक्य भी वर्तमान काल को बताने वाला वाक्य भी विधि को देता है कि हर मनुष्य ये जाने हर मनुष्य के लिए इसमें आदेश भी छुपा हुआ है इसके अतिरिक्त और किसी को न माने जो चीज विधि कही गई है उससे भिन्न का निषेध भी स्वतः उस वाक्य से प्राप्त होता है जिसे ईश्वर जान रहे हैं उसी को ईश्वर जाने किसी और को ना जाने जो चीज जैसी है जो जैसा है और जिस स्वरूप वाला जो है केवल उसी को जाने और किसी को ना जाने मिथ्या ज्ञान से पृथक रहें ये सारी बातें इस छोटे से एक वाक्य से भी गृहित की जा सकती ऐसे ही वेद के सब मंत्रों में कहीं भी ये तो एक प्रतीक के रूप में महर्षि ने अर्थ को खोल दिया यहां पर अन्य जगह भी वो समय समय पर खोलते रहते हैं हम भी उहा करके वहां निकाल सकते हैं कि ये वेद में कहा गया तो ये आदेश है हमारे लिए वेद अहम एतम पुरुषम महानतम कि उससे बड़ा उसके तुल्य कोई नहीं है वो सबसे बड़ों में बड़ा है हमारे मन में आर्य के मन में ये बात अवश्य रहनी चाहिए कि उससे बढ़ करके बढ़ करके कोई नहीं है हमारे मन में उससे बढ़ के अन्य किसी के प्रति सम्मान नहीं होना चाहिए अन्य भी सम्माननीय होते हैं हम बहुत सम्मान कर सकते हैं उनका लेकिन परमात्मा जितना सम्मान किसी का ना करे परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ माने ये भाव बहुत गहराई से होना चाहिए आदित्य वर्णम परमात्मा आदित्य के समान है इसका अर्थ जो महर्षि ने किया आदित्य का रचक उसका प्रकाशक उसका बनाने वाला परमात्मा है तो आदित्य आदि का रचक प्रकाशक वही एक परमात्मा है तथा वह सदा स्वप्रकाश स्वरूप ही है परमात्मा आदित्य के समान है परमात्मा को समझाने के लिए आदित्य की उपमा दी गई जैसे सूर्य आदि किसी अन्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं चंद्रमा आदि उपग्रह पिंड सूर्य आदि स्वप्रकाशकों से प्रकाशित होते हैं उनका अपना प्रकाश नहीं होता तो जिस प्रकार से सूर्य स्वयं प्रकाशक है उसको अन्य प्रकाशित नहीं करते ऐसे ही परमात्मा स्वयं प्रकाशित है परमात्मा को कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता प्रकाशित करने का मतलब है जनाना उसका स्वरूप स्वयं में अपने आप में है बहुत से व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोग इस मंत्र के इस अंश का प्रयोग इस रूप में करते हैं कि जिस प्रकार से आदित्य दिखाई देता है लाल सफेद पीला प्रकाशित पिंड की तरह से प्रकाश के रूप में तो परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है जिस तरह से ये प्रकाश दिखाई दे रहा है और इसको मान करके वो अपनी साधना में ध्यान में परमात्मा का जब स्मरण करते हैं तो उसको प्रकाश के रूप में देखते हैं जैसे कोई ज्योति हो जैसे कोई सूर्य हो लाल पीला प्रकाशमान अत्यंत प्रकाशित तेजस्वी इस रूप में वो कल्पना करते हैं देखते हैं बताते भी हैं कि परमात्मा का रंग कैसा है तो परमात्मा का रंग आदित्य के समान है सूर्य के समान है ऐसा वो तात्पर्य लेते हैं महर्षि ने ऐसा अर्थ नहीं किया है ऐसा अर्थ लेना परमात्मा को गलत ढंग से समझना है ये जो आदित्य में प्रकाश है ये भौतिक प्रकाश है ये अग्नि का प्रकाश है ये वो गुण है जो नेत्रों से गृहित होता है इंद्रियों से जो जाना जा सकता है ये वो गुण है रूप गुण है परमात्मा रूप गुण से रहित है परमात्मा को नेत्रों से नहीं जाना जा सकता परमात्मा को नेत्रों से नहीं देखा जा सकता ये सिद्धांत जब सिद्ध है शास्त्रों से हमें पता है तो अब यहां आदित्य वर्णम का ये अर्थ हम नहीं ले सकते कि परमात्मा सूर्य के समान रंग वाला है वर्ण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं धातु में प्रेरणे वर्णने च दो अर्थ यहां पर दिए उसके अलावा क्रिया विस्तार गुणवचनेशु ये वर्ण धातु इन अर्थों में भी है महर्षि ने जो वर्ण का अर्थ किया वो कहा आदित्य से वर्ण स्वरूपम इव वर्ण का मतलब स्वामी जी खोलते हैं स्वरूप आदित्य से वर्ण स्वरूपम इव स्वरूपम यस्य तम उसको आदित्य वर्ण को अब इतना भी अगर स्वामी जी लिखते थे इतना ही लिखते तो भी था कि आदित्य के वर्ण अर्थात स्वरूप के समान स्वरूप है जिसका अब आदित्य का क्या स्वरूप है आदित्य के किस स्वरूप की यहां उपमा दी जा रही है यदि वो नहीं लिखते तो इतने से फिर व्यक्ति यही देखने लगता कि आदित्य का स्वरूप तो ये गोल गोल है प्रकाशक है ये रंग रूप वाला है ऐसा ही परमात्मा का भी होगा इसलिए महर्षि वहीं पर ही नहीं रुक जाते वो कहते हैं आदित्य से वर्ण स्वरूपम इव स्वरूपम यस्य तम स्वप्रकाशम स्वप्रकाशकम स्वप्रकाशम अर्थात परमात्मा आदित्य के स्वरूप के समान है वो कौन सा स्वरूप है जो परमात्मा में भी है वह है स्वप्रकाशम स्वयं में प्रकाशित है वो सूर्य का इतना ही अंश लेंगे उदाहरण का दृष्टांत का इतना ही धर्म यहां पर लेंगे जो वहां पर संगत लगता है और यदि परमात्मा सूर्य के समान प्रकाशित हो प्रकाश करने वाला हो तो इस सूर्य की भी आवश्यकता नहीं होगी परमात्मा का ही प्रकाश सब जगह फैला होगा और चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए सब जगह वह प्रकाश होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है प्रकाश हम इस सूर्य से प्राप्त करते हैं ऐसा प्रकाश इसलिए परमात्मा को उस रूप में जो लोग मानते हैं इसी तरह के अन्य भी कुछ वचनों से वो मानने लग जाते हैं कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है वो ठीक नहीं है परमात्मा निराकार है उसमें ये चक्षुग्राह्य रूप नहीं होता है फिर कहा तमसह परस्तात वो अंधकार से दूर है वो कौन सा अंधकार भौतिक अंधकार नहीं प्रकाश जहां नहीं है प्रकाश का अभाव रूप जो अंधकार है उसकी उसका कथन नहीं है यहां पर अविद्यादि अंधकार से अविद्या भी अंधकार है तम है विभिन्न दोषों से वो रहित है और महर्षि आगे इसमें लिखते हैं कि तम जो अंधकार अविद्यादि दोष उससे रहित ही है वो अविद्या से ग्रस्त कभी नहीं हो सकता जैसा कि अन्य कुछ लोग मानते हैं कि वो ब्रह्म वो परमात्मा अविद्या से ग्रस्त हो जाता है तो वो जन्म ले लेता है परमात्मा अविद्या से ग्रस्त हो ही नहीं सकता अब फिर आगे महर्षि अपने भावों को रख रहे हैं और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि वो परमात्मा स्वभक्त धर्मात्मा सत्य प्रेमी जनों को भी अविद्यादि दोष रहित सत्य करने वाला वही परमात्मा है वो स्वयं अविद्यादि दोषों से रहित है और अन्यों को भी सत्य उसी दिन उसी समय शीघ्रता से अविद्यादि दोषों से दूर करने वाला है वो कर देते देता है कर सकता है वो धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सत्य सिद्धिर भवे नह ये भी प्रार्थना वहां लिखी महर्षि ने व्यवहार में हम देखते हैं कि हमारा अविद्या अंधकार सत्य है दूर नहीं होता धीरे धीरे हो रहा है यदि हमारा पुरुषार्थ है यदि हम परमात्मा के भक्त हैं स्वभक्त हैं यानी परमात्मा के भक्त हैं धर्मात्मा हैं सत्य प्रेमी हैं तो बहुत शीघ्रता से हमारा अविद्यादि अंधकार दूर होता है हम सत्य प्रेमी हो लेकिन ईश्वर भक्त ना हो धर्मात्मा ना हो तो हमारा अंधकार नहीं जाएगा हम ईश्वर भक्त तो हैं और धर्म का भी कुछ आचरण कर रहे हैं धर्मात्मा भी है लेकिन सत्य प्रेमी नहीं है जानने की इच्छा नहीं है तो भी अविद्या अंधकार दूर नहीं होगा जिनमें ये तीनों गुण आ जाते हैं उनका अविद्या अंधकार शीघ्र ही दूर होता है परमात्मा कर ही देगा उसमें कोई देर नहीं लगती वो जैसे अन्य ऋषियों को ज्ञान दे देता है वैसे किसी भी मनुष्य को दे सकता है हमारी पात्रता में कमी है इसलिए हमारा अविद्या अंधकार शीघ्र नहीं जाता फिर आगे देखते हैं विद्वानों को ऐसा निश्चय है विद्वान ऐसा मानते हैं सामान्य व्यक्ति नहीं कि परब्रह्म के ज्ञान और उसकी कृपा के बिना कोई जीव कभी सुखी नहीं होता परमात्मा को जानने और उसकी कृपा के द्वारा ही हम पूर्ण सुखी हो सकते हैं और कोई उपाय ही नहीं है परमात्मा को हमें जानना आवश्यक है परमात्मा को जाने बिना हम पूर्ण सुखी नहीं हो सकते और परमात्मा की कृपा भी हमारे पर तभी होती है उस परमात्मा को जान के जीव मृत्यु को उल्लंघन कर सकता है अन्यथा नहीं जो परमात्मा को नहीं जानते हैं ठीक नहीं जानते हैं वो इस मृत्यु से परे कभी नहीं जा सकते जन्म मरण उनका चलता रहेगा अनेक व्यक्ति इस बात को कहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं अपने मन को पवित्र कर लिया है ईश्वर को जानने मानने की क्या आवश्यकता है लेकिन वेद का आदेश है ईश्वर को जानना आवश्यक है वेद में जितने मंत्र हैं उनमें सर्वाधिक मंत्र ईश्वर से संबंधित ही हैं बार बार ईश्वर का स्वरूप बताया जाता है वो हमारे लिए सबसे आवश्यक है परमात्मा को जाने बिना क्यों नहीं हम मृत्यु से परे जा सकते हैं बहुत लोग बोलते हैं हम तो शांत हो जाते हैं अच्छी तरह जीवन जी लेते हैं बिना परमात्मा को जाने तो महर्षि आगे लिखते हैं क्योंकि नान्य है पंथा विद्यते अयनाय बिना परमेश्वर की भक्ति और उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग कोई नहीं है परमात्मा की भक्ति भी आवश्यक है और परमात्मा का ज्ञान भी आवश्यक है दोनों तरह के लोग देखे जाते हैं कुछ लोग परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं जानते नहीं है गलत जानते रहते हैं बस परमात्मा का नाम स्मरण करते रहते हैं उससे प्रार्थना करते रहते हैं उसकी मनमानी या उचित अनुचित स्तुति करते रहते हैं और उसके अनुसार कुछ आचरण भी करते रहते हैं लेकिन परमात्मा को ठीक ठीक जानने का प्रयास नहीं करते हैं। और इसके विपरीत दूसरे भी मनुष्य होते हैं जो परमात्मा को जानने में बहुत जोर लगाते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते तो दोनों आवश्यक हैं जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता जिसने परमात्मा का लक्ष्य नहीं बनाया है वो संसार में इधर उधर भटकेगा उसके दूसरे लक्ष्य बनेंगे उसके दूसरे लक्ष्य होंगे ही और जब दूसरे लक्ष्य बना करके कोई व्यक्ति इस संसार में पुरुषार्थ करेगा ज्ञान प्राप्त करेगा तो पूर्ण सुखी कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि लक्ष्य ही उसने दूसरा बना रखा है पूर्ण सुखी तो परमात्मा को लक्ष्य बना करके ही हो सकता है इसलिए परमात्मा की भक्ति के बिना पूर्ण सुख नहीं आ सकता इसी तरह परमात्मा के ज्ञान के बिना जब कोई व्यक्ति संसार की वस्तुओं को जानता है बहुत पुरुषार्थ करता है और उससे उतना उतना लाभ भी मिलता है लेकिन परमात्मा को जाने बिना परमात्मा के ज्ञान से रहित जब वो संसार की वस्तुओं को जानता है तो उन वस्तुओं का उचित उपयोग नहीं कर सकता उन वस्तुओं को ठीक जान भी नहीं सकता कि ये चीजें वास्तव में बनी किसके लिए हैं अगर परमात्मा को जाने बिना इन संसार की वस्तुओं को जाना है किसी ने तो उन वस्तुओं से अधिकाधिक भोग ही वो लेगा अधिक से अधिक सांसारिक सुखों को सुविधाओं को पाने में ही लग जाएगा <clears throat> और भटक जाएगा दुखों में पड़ जाएगा वो और जिसने परमात्मा को जान लिया है परमात्मा को जान रहा है और उसके साथ साथ अन्य वस्तुओं को जान रहा है तो वो अब उन वस्तुओं का उपयोग परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप करेगा परमात्मा को लक्ष्य बनाते हुए करेगा अब वो उन वस्तुओं को लक्ष्य नहीं बनाएगा तो जो दुख उसको आ सकता था वो नहीं आएगा अर्थात पूर्ण सुख की प्राप्ति बिना परमात्मा की भक्ति और बिना परमात्मा को जाने हो ही नहीं सकती दुनिया को कितना भी जान ले वो कितनी सूक्ष्मता से जान ले कितने गुणधर्म जान ले वो सब जान सकता है व्यक्ति पुरुषार्थ करके लेकिन अंततः वो उसका जब उपयोग करेगा वहां त्रुटि रहेगी जब देखा कि इसमें ये ये लाभ है इससे ये ये सुख मिलता है तो वो अति मात्रा में उसको लेना चाहेगा ही और अति मात्रा में लेना चाहेगा तो दुखी होगा अन्यों को भी दुखी करेगा शोषण करने लग जाएगा शोषण नहीं भी कर रहा है तो खुद अधिक भोगेगा तो हानि को प्राप्त होगा मुक्ति को तो प्राप्त कर ही नहीं सकता इसलिए परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के ज्ञान के बिना संसार को कोई कितना भी जान ले कितने भी साधन उपलब्ध कर ले वो पूर्ण सुखी नहीं हो सकता और कोई रास्ता ही नहीं है इसलिए महर्षि ने लिखा बिना परमेश्वर की भक्ति और उसके ज्ञान के मुक्ति का मार्ग कोई नहीं है है ही नहीं ना अन्य पंथा अब मंत्र में तो एक सामान्य बातें कह दी गई अब महर्षि उसको किस रूप में ले रहे हैं ऐसी परमात्मा की दृढ़ आज्ञा है यह मंत्र में कोई आज्ञा नहीं दी गई है एक सामान्य कथन है नान्य पंथा विद्यते अयनाय तमेव विदित्वा अति मृत्यु एक कोई स्थिति है उसका वर्णन मात्र है यहां पर कोई आज्ञा नहीं है लेकिन ये वेद के अर्थ करने की शैली है ये तात्पर्य हर जगह लिया जा सकता है जहां सामान्य वर्णन है कोई बात कही गई है तो ये परमात्मा की आज्ञा ही है आज्ञा कथन वाला कोई लकार न होते हुए शब्द न होते हुए भी वो कथन भी आज्ञा ही है परमात्मा की इसलिए महर्षि ने कहा अर्थात ऐसी परमात्मा की दृढ़ आज्ञा है हम सब जगह वेद मंत्रों में ये लगा सकते हैं अंत में महर्षि लिखते हैं सब मनुष्यों को इसमें वर्तना चाहिए परमात्मा में वर्तना चाहिए ये सब मनुष्यों के लिए आवश्यक है आर्यों के लिए तो आवश्यक है ही क्योंकि सब मनुष्यों को आर्य करना है सब मनुष्यों को आर्य बनाना है इसलिए ये सब मनुष्यों को इसमें वर्तना चाहिए जिस तरह से इस मंत्र में कहा गया और सब पाखंड और जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिए नान्य पंथा विद्यते अयनाय किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए सत्यव्रत जी अच्छा, अन्य किसी को ईश्वर न जाने ऐसा भी पढ़ने आता है कि जैसे परमात्मा के अलावा जो ऐश्वर्य व्यक्ति है जैसे और ज्यादा पुस्तकों से हम जिंदगी हुई किसी जिंदगी हुई उनको ईश्वर कर सकते हैं मतलब परमात्मा या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकते ऐसा भी ऐसा इनको जिनमें भी ऐश्वर्य है उसको हम ईश्वर कह सकते हैं लेकिन ये संदर्भ क्या है वो सृष्टि का रचयिता कर्मफल प्रदाता प्रलय करने वाला वो जो महानतम आदित्य वर्ण पुरुष है वो ईश्वरीय अभिप्रेत है उस स्थान पर और किसी को ईश्वर ना माने क्योंकि बहुत से व्यक्ति किसी मनुष्य को महापुरुष को वैसा ही ईश्वर मानने लग जाते हैं जैसा कि वो परमात्मा ब्रह्म या ईश्वर है वैसा किसी को ना माने हाँ अपने अपने गुणों के कारण से उन उतना उतना ऐश्वर्य राजा आदि में विद्वानों में अन्य मनुष्यों में भी होता है उतने अंश में उसमें ईश्वरत्व है और उसको हम हमारे से श्रेष्ठ आदि होने के कारण स्वामी भी कह देते हैं भगवान कह देते हैं भगवान कह देते हैं ईश्वर कह देते हैं ये सारे गौण कथन हैं जिस समय हम किसी मनुष्य को ईश्वर कहेंगे किसी मनुष्य को भगवान कहेंगे तो उसको वो परमात्मा वाला भगवान परमात्मा वाला ईश्वर नहीं कहेंगे वो मान के चलते हैं कि मनुष्य है ये एक आत्मा है इसके अल्प सामर्थ्य है एक अंश में उसको कथन किया ये समझ अंदर होनी चाहिए यदि कभी इन शब्दों का प्रयोग किसी मनुष्य के लिए करते हैं तो ये समझ अंदर होनी चाहिए कि मैं किसको और कैसे बोल रहा हूं वो अभिप्राय है भक्ति और उपासना में क्या है एक ले सकते हैं हम्म। वेदों में भक्ति शब्द आया है भक्ति शब्द पुराणों से पुराणों से तो क्या कहेंगे शब्द तो संस्कृत का है वेद में भी कहीं भक्ति शब्द हो सकता है आया हो देखने की बात है हो सकता है और ना भी हो तो कोई बात नहीं है क्योंकि वेद में सब शब्द आए हैं ऐसा नहीं है हर शब्द हर विभक्ति में हर वचन में यानी सब कारकों में कोई भी धातु सब लकारों में सब वचनों में सब पुरुषों में आई हो ऐसा नहीं है कोई भी शब्द समस्त कृदंत रूप में तिंगंत रूप में तथितांत में यंगंत यंगलुगंत जो जो भी रूप बन सकते हैं वो सारे के सारे वेद में आए हो ऐसा नहीं है कोई शब्द किसी रूप में आया कोई शब्द किसी रूप में आया कोई धातु किसी रूप में आई है उसके आधार पर ऋषियों ने एक भाषा व्यवस्थित की जो जगह छूटी हुई थी वो भी उन्होंने पता लगा ली अन्वय व्यतिरेक से कि यहां ये होना चाहिए यहां ये होना चाहिए तो वो स्वरूप वेदों से ही निकला है लेकिन वेद में सारे शब्द हों ऐसा नहीं है तो भक्ति शब्द वहां है या नहीं है ये तो, तो देखने की बात है नहीं भी है तो कोई आपत्ति नहीं है कि यहां पर भक्ति शब्द का प्रयोग कर दिया तो कोई गलत है या ये पुराणों से आया है ऐसा नहीं ये वेद सम्मत है तभी महर्षि ने लिखा है एक मान सकते हैं आप कहीं सूक्ष्मता से अंतर करना चाहे तो कर लें लेकिन भक्ति उपासना को एक रूप में हम भक्ति अर्थात उसी की उपासना में आज्ञा पालन में उपासना ये शब्द उस समानार्थक प्रयोग किए जाते हैं वो लिए जा सकते हैं यहां पर यहां भक्ति को उपासना के रूप में ले सकते हैं यहां कोई आपत्ति नहीं है जिस जगह ये वाक्य लिखा हुआ है यहां और कोई अच्छा। कहा पर जंजाल अच्छा जाल तो आप समझते हैं यानी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है ये वो वो वो बहुत समस्या होती है ना वो जाल हो गया <laughs> जंजाल होता है जी का जाल यानी हमारे और बड़ा मोर ऐसा घटमट चीजें उसको जंजाल बोलते हैं बड़ा झंझट घटमट चीजें जो कि सुलझी भी ना हो बिना सुलझी जो हो तो ये जो है पाखंड और जंजाल जंजाल मतलब ये यूं ही फंसाने के लिए जो चीजें बनी हुई हैं भूल भुलैया और इधर उधर की उल्टी सीधी बातें उसे जंजाल बोलते हैं ये शब्द संस्कृत का नहीं है मेरी जानकारी में जंजाल शब्द उर्दू फारसी का जिसका भी है ये है जी नहीं गुजराती में भी है गुजराती में भी वो संस्कृत से नहीं आया है वो उर्दू फारसी से आया है गुजराती में ये तो हिंदी में भी बोलते हैं ना जंजाल शब्द यहाँ लिखा ही है हिंदी में और प्रांतीय भाषाओं में भी जंजाल शब्द बोलते हैं ठीक है पाखंड और जंजाल जैसे कि कोई आ, आ, कोई व्यक्ति जैसे हमारे जैसे सोच लेते हैं ऐसा जो गृहस्थ में नहीं गए हैं बोले गृहस्थी हैं ये बच्चे हैं ये वो है ये हो रहा है ये समस्या ये समस्या अरे क्या जंजाल है ये और गृहस्थी हमारे लिए सोच लेंगे कि घर में तो हम दो चार पांच दस जने रहते हैं ये आश्रमों में इतने लोग इसकी ये समस्या उसकी ये समस्या उसका ये ध्यान रखो ये ध्यान रखो ये आश्रम आदि क्या है ये काय की जंजाल है <laughs> बड़ी गृहस्थी है ये तो ये जंजाल है ये संसार है लोगों से मिलना जुलना इससे किसी व्यक्ति से ये समस्या कोई कुछ कर देता है कोई कुछ कर देता है कभी भी ये क्या जंजाल फैला रखा है अस्त व्यस्त चीजें यू ही उल्टी सीधी चीजें उसको भी जंजाल ऐसे बोलते हैं शास्त्रों को भी कोई जंजाल बोल सकता है कि क्या पढ़ो ये पढ़ो वो पढ़ो ये अष्टाध्यायी के सूत्र है व्याकरण वालों को जिनको व्याकरण समझ में नहीं आता उनको लगेगा ये क्या जंजाल फैला रखा है झंझट उलझन फैला रखी है जो विज्ञान को नहीं समझता वो गणित के फार्मूले और सूत्र और केमिस्ट्री के सूत्र वगैरह उसको नए को तो समझ में आएगा नहीं ऊंची बात वो देखेगा तो बोले कि क्या झंझट है क्या झंझाल है दार्शनिक चर्चा ये सारे ग्रंथ इतने सारे बना रखे हैं अपने पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो ये क्या शास्त्र वास्त्र ये सारा जंजाल फैला रखा है इसको पढ़ो उसको पढ़ो इसको पढ़ो ये सब फालतू की चीज है उसको देखने वाले को जंजाल है या नहीं है वो एक अलग बात है लेकिन उनको लगता है जैसे कि नव्य न्याय के बारे में के कहा जाता है कि ये वाक्य बोला ये बोला और ऐसा और ऐसा ये क्या वाणी का जंजाल फैला रखा है शब्द जाल फैला रखा है या प्रवचन चल रहा है किसी का वो सीधी सीधी बात तो बोल नहीं रहा है समझ नहीं आ रहा है ये प्रमाण वो प्रमाण और तेजी से और ये वो वो बोले ये क्या जंजाल खड़ा कर दिया इन्होंने तो जब समझ में ना आ रहा हो हमारे समेटे में ना आ रहा हो हमारे नियंत्रण में ना आ रहा हो तो वो जंजाल लगता है इस अर्थ में ये बहुत जगह प्रयोग किया जाता है अच्छा <laughs> <laughs> ये अविद्या वाला जंजाल होना चाहिए क्योंकि और सब पाखंड और जंजाल अवश्य छोड़ देना चाहिए <laughs> वैराग्य को प्राप्त होना चाहिए जो संसार का जंजाल है वो भी यहां लिया जा सकता है यानी इसको हम किस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि सब मनुष्यों को इसमें वर्तना चाहिए ये जो लिखा है ऊपर मंत्र में अब इसके अतिरिक्त जो भी है ना वो सारा अविद्या है तो वो भी पाखंड है वो भी एक तरह से जंजाली है कर्मकांड हो गया ये करो वो करो वो करो ऐसा उसको उलझा करके रख देते हैं अन्य भी जो कुछ भी है ये संसार भी एक तरह से जंजाली है आप महर्षि का तात्पर्य ले सकते हैं कि परमात्मा को छोड़ करके जब इस संसार को जानना भोगना पाना इसमें जो व्यक्ति लगा है ये जंजाली है कुछ नहीं होने जाने वाला इससे थोड़ा बहुत मिलेगा सुख बाकी तो इसमें फंस करके रह जाएगा भागेगा भागदौड़ सा खूब करेगा खूब मेहनत करेगा कुछ उन्नति भी होती हुई दिखेगी लेकिन रहेगा कहा उसी जाल में वहीं फंसा रहेगा वो कितना ही समझे कि मैं जाल में इधर उधर जा रहा हूं ऊपर उठ रहा हूं और मुक्त हो गया हूं जाल से लेकिन रहेगा उसी जंजाल में जाल में इस जंजाल को छोड़ करके ये मुक्त होकर के ईश्वर को स्वीकार करके इधर आ जाए वो जंजाल भी हो सकता है तो आप तो संन्यास्त हो चुके हैं वो जंजाल जो लौकिक जंजाल है उसको छोड़ा हुआ भी समझ सकते हैं उसमें लेकिन फिर भी सन्यासियों के भी जंजाल बन जाते हैं कुछ कुछ हर व्यक्ति का अपना अपना कुछ जंजाल बन जाता है वो बना लेता है गृहस्थी ही नहीं आप और हम भी हो जाते हैं वो जंजाल छूट करके ये भावना हमारी बनी रहे ऐसा वेद प्रकाश जी परमात्मा स्वभक्त धर्मात्मा सत्य प्रेमी जनों को अविद्या दोष से सद्य करने वाला हम्म। सद्य पूरी तरह से दोष रहित करते सत्य है पूरी तरह से कर देता है परमात्मा ही है जो हमें समस्त अज्ञान से दूर हटा सकता है हटाता है और कोई नहीं है और वो कर देता है तस्मिन अहनी उसी दिन शाब्दिक अर्थ तो यह है अन्यु परेद्यु सत्य है ये जो शब्द वहां पर बनते हैं समाने अहनी इसका विग्रह जो है ना सत्य का व्याकरण की दृष्टि से समाने अहनी यानी समान दिन में जिस दिन में मैंने कामना की है उसी दिन कहते तो आज की आज लेकिन आज की आज का अर्थ ये भी होता है शीघ्र भी तत्क्षण उसी समय ये अर्थ भी सत्य का लिया जाता है लेकिन समाने आहनी उसी दिन परमात्मा ऐसा कर सकता है यदि हम वैसे हो वैसी प्रार्थना हो हमारी तो लगेगा लगेगा तो उत, उसी उतना ही समय हमारी अविद्या दूर होने में भी लगेगा परमात्मा की जो प्रेरणा उहा होती है वो भी उसमें भी समय लगेगा ये जो प्रेरणा है धर्मात्माओं की और सत्य प्रेमी और स्वभक्तों की ऐसा बनने पे कितनी स्थितियां ऐसी आएंगी जिसके बारे में उसको कभी किसी ने नहीं बताया उसने कभी सोचा नहीं लेकिन वहां भी ठीक निर्णय करेगा वो ये परमात्मा की कृपा होती है वहां जीवन में कितनी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती हैं भिन्न भिन्न निर्णय लेने होते हैं विचित्र विचित्र अभूतपूर्व चीजें आती हैं सामने सबके पास हाथ भिन्न भिन्न होती है वहां किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है व्यक्ति क्या करूं क्या ना करूं कुछ सूचता नहीं है कोई शास्त्र याद नहीं आता है कोई उपदेश याद नहीं आता है क्या करूं लेकिन यदि व्यक्ति भक्त है ईश्वर का धर्मात्मा है सत्य प्रेमी है जो गुण रखता है वो उसको उपाय सूचेगा वहां पर और ठीक रास्ता उसको मिलेगा वो परमात्मा की कृपा से मिलता है वहां जो लोग ईश्वर के कुछ नियमों का पालन तो जो लोग धर्मात्मा नहीं है लेकिन ईश्वर के कुछ नियमों का पालन करते हैं उतने अंश में वो धर्मात्मा है उतने अंशों में वो धर्मात्मा है और उतने अंशों में परमात्मा उनका सहयोग न्याय करता ही है केवल धर्मात्मा नहीं लिखा है अब यूं धर्मात्मा को इतना व्यापक बना दें तब तो उसमें सब चीजें आ गई भक्ति भी उसी में आ गई सत्य प्रेम भी उसी में आ गया अगर धर्मात्मा को व्यापक कर दें तो लेकिन ये तीन शब्द अलग अलग लिखे हैं स्वभक्त धर्मात्मा सत्य प्रेमी जनों को तो यहां अब धर्मात्मा को हम थोड़ा सा एक सीमित अर्थ में लेंगे कि जो धर्मादि शब्द इनका आचरण करता है स्वभक्ति को उससे अलग मान करके चलेंगे सत्य का प्रेम जो है उसको धर्म से, से अलग मान करके चलेंगे यहां जो वक्ता बोल रहा है उसमें ऐसा करना पड़ेगा हमें ठीक है तीन बार ओम का उच्चारण मन में मंत्र के भाव को रखते हुए ओ, ओ अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पत शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरव शांति सामा शान्तिरेधि ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको साथ नमस्ते